जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए तन मन धन सब वारी संत पर दी संत ही से सब हो जो चाहे सो करे अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे रिद्धि सिद्धि से बैर संत दूरी यावते इंद्रासन बैकुण्ठ बिष्टासमा जानते करते अबिरल भक्ति प्यास हरि नाम की अरे हाँ पलटू संतन चाहे मुक्ति तुच्छ के ही काम की आगम कहे ना संत भडरिया कहत है संत नौषधि देत वेद ये करत है झार फूक ताबीज ओझा को काम है अरे हाँ पलटू संत रहित पर पंचरा मको नाम है हरी जाना हरी है एक सब के सार में जो चाहे सो करे संत दरबार में तुरता मिला ना वही बात में हरी हाँ पलटू लाली मेहंदी बीच छिपी है पात में करते बट्टा ब्याज का सब है जग का माया में है लीन बहाना भगति का कहो तनी का नहीं छुई गया बै राग है अरे हाँ पलटू जन्मी पुत कपुट लगाया दाग है पगड़ी धरायु तारी टका है साथ का मिला दो साला आय रुपया साठ का गोडा धारे कछु दे मुड़ाए मुंडकी अरे हाँ पलटू ऐसा है रोजगार कीजिए ढूढ़ी के मस्कत ना है सकी मुंडाया मूड तब सेती मेती में खाय मीला आसान अब तब नागा है देहीन रहे ना काम के अरे हाँ पल मारी पीटी के खाही सो बेटा राम के कवि योग प्रीतम ने एक पत्र में मुझे लिखा है भगवान कौन हो तुम प्राण की अमराइयों में कोकिल से कुकते मधु घोल जाते हो या हृदय की गहन घाटी में मचलते भाव निर्झर से शून्य के कुछ अर्थ अनुपम खोल जाते हो कौन तुम आकाश से विस्तीर्ण जिसमें पंख अपने खोल मैं उन्मुक्त उड़ता जा रहा अश्रांत कर रहा हूं संतरण कलहंसा अनथक तुम्हारे प्रेम रंजित मान सरोवर में बना उद्भ्रांत आग यह कैसी अभी की निरंतर जल रही अंतकरण में फैलती ही जा रही जो राग यह कैसा उठा है आज अंतरबीन से मेरी कि सारा विश्व जगमग हो उठा है यह तुम्हारी ही जला ही आग है यह जानता हूं यह तुम्हारा ही जगाया राग है अनुराग का पहचानता हूँ पर तुम्हें जब खोजता हूँ जग जलधि में था मिल पाती नहीं है जो तुम्हारी दिव्य मंजिल से मिले वह राह मिल पाती नहीं है चेतना पर जो अमृत वरदान सा बनकर बरसते हो हृदय में भाव के माधुरी से भीगा हुआ संगीत बनकर जो सरसते हो जो स्वनिर्मित सृष्टि में ही छिप गए हो एक अनबूझ राज से वह कौन हो तुम परमात्मा प्रगट से भी प्रगट अप्रगट से भी अप्रगट है पास से भी पास दूर से भी दूर है आंख हो तो पास आंख ना हो तो दूर और आंख हमारे पास नहीं सूरज द्वार पर नाच रहा है अपनी सतरंगी किरणों को लेकर पर अंधे को पता कैसे चले या जो आंख बंद किए बैठा है द्वार दरवाजे बंद किए बैठा है उसे अनुभव कैसे हो सूरज की तरफ से कोई कमी नहीं कोई कृपणता नहीं कृपणता है तो हमारी तरफ से हम आंख खोलने में भी संकोच करते द्वार पर दस्तक दे परमात्मा तो भी हम अनसुनी कर जाते सुन भी लेते हैं तो अनसुनी करते और ऐसा नहीं उसने द्वार पर दस्तक न दी हो ऐसा कोई द्वार ही नहीं जिस पर वह दस्तक न देता हो और एक बार नहीं अनेक बार देता है अनेक बार नहीं अनंत बार देता है सुबह देता है दोपहर देता है सांझ देता है रात देता है हर भाव दशा में तुम्हें झकझोरता है कभी सूरज की किरणों में कभी चांद की किरणों में कभी हवा के झोंकों में कभी फूलों की गंध में कभी पक्षियों की चहचहाहट में कितने रूपों में आता है मगर हमारी कठिनाई यह है कि हम उसके इस अनंत रूप को समाने के लिए राजी नहीं हमने तो उसकी छोटी छोटी प्रतिमाएं बना ली हम तो चाहते हैं वह हमारी प्रतिमा के रूप में आए हमने शर्तें बांध रखी कि ऐसे ही आओगे तो स्वीकार होोगे और हमारी शर्तें मानने को वह मजबूर नहीं हमारी शर्तें वह मान भी नहीं सकता हमारी क्षुद्र शर्तें मान ले तो वह विराट न रह जाए हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती हमें अपेक्षाएं छोड़नी होंगी और तब अचानक सारा रहस्य खुल जाता है और जब मैं कहता हूं सारा रहस्य खुल जाता है तो ऐसा मत समझ लेना कि तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उत्तर तो एक भी प्रश्न का नहीं मिलता लेकिन सारे प्रश्न गिर जाते जब मैं कहता हूं सब रहस्य खुल जाता है तो मेरा अर्थ है सारे प्रश्न गिर जाते पूछने वाला ही घुल जाता है मिल जाता है डूब जाता है पूछने वाला ही नहीं बचता मन ही पिघल जाता है जिसमें प्रश्न लगते थे प्रश्न उगते थे वो मूल श्रेतु ही जड़ से कट जाता है प्रश्न गिर जाते एक निष्प्रश्न मौन छा जाता है उस निष्प्रश्न मौन में ही जाना जाता है क्या है कौन हो तुम प्राण की अमराइयों में कोकिल से कूकते मत घोल जाते हो या हृदय की गहन घाटी में मचलते भाव निर्जर से शून्य के कुछ अर्थ अनुपम खोल जाते हो नहीं उत्तर मिलेगा कि कौन है वह लेकिन प्रश्न गिर जाएगा और प्रश्न का गिर जाना ही सार्थक है उत्तर से कुछ काम बनता भी नहीं क्योंकि हर उत्तर में नए प्रश्न लग जाते हर उत्तर नए प्रश्नों को ही लाता है एक की जगह दस प्रश्न ले आता है मजा तो तभी है जब तुम्हारे भीतर प्रश्न ही ना उठे तुम्हारे भीतर प्रश्न का चिन्ह ही खो जाए उस अवस्था को भक्त भजन कहते जहां प्रश्न का कोई चिन्ह नहीं ध्यानी समाधि कहते जहां प्रश्न का कोई चिन्ह नहीं जहां निष्प्रश्न निस्तरंग चैतन्य है वहां जान लिया गया सब और फिर एक बात तुम्हें दोहरा दू जब मैं कहता हूं जान लिया गया सब तो ये मत समझना कि तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे कि तुम बड़े पंडित हो जाओगे नहीं जब तुम सब जानोगे तो तुम बिल्कुल निर्दोष हो जाओगे पंडित का तो दूर दूर तक पता ना चलेगा एक सरलता होगी एक सहज स्फूर्त चैतन्य का आविर्भाव होगा खुलेगा एक आकाश जिसका ना ओर है ना छोर है लेकिन ज्ञाता तुम नहीं बन जाओगे मुट्ठी में तुम्हारे ज्ञान नहीं आ जाएगा तुम तो बचोगे ही नहीं बचेगा एक माधुरी एक स्वाद अमृत का तुम्हारे रोए रोए में प्रध्वनित होगी एक मधुर ध्वनि एक मधुर रव अनाहत का ओंकार का लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे उत्तर ही पास न हो तो ज्ञानी कैसे होगे जहां रहस्य का अनुभव होता है वहां व्यक्ति निर्दोष हो जाता है या व्यक्ति निर्दोष हो जाए तो रहस्य का अनुभव हो जाता है निर्दोषिता तुम्हारी तरफ से और परमात्मा की तरफ से रहस्य की वर्षा हो जाती और ध्यान रखना दिन बहुत थोड़े समय बहुत कम है राह खोजनी कि निर्दोष हो सको राह खोजनी कि उसके रहस्य से जुड़ सको खाह मिल पाती नहीं है जो तुम्हारी दिव्य मंजिल से मिले वह राह मिल पाती नहीं है शायद हम गलत दिशा में खोजते हम बाहर खोजते इसलिए राह नहीं मिल पाती स्वयं में उतरना पड़े राह वहां है अपने ही अंतस्थल की सीढ़ियों में उतरना है अपने ही चेतना के कुएं में उतरना है राह वहां है स्वयं को जानने में ही उससे जाना जाता है आत्म परिचय ही उसका परिचय बन जाता है और हम खोजते हैं वेद में कुरान में बाइबल में धम्मपद में जिंदा अविस्ता में और हम कहां कहां नहीं खोजते हम मुर्दा किताबों में खोजते और वह तुम्हारे भीतर जीवंत बैठा है तुम्हारे चैतन्य की तरह वह खोजने वाले में खोजने वाले की तरह बैठा है वह कोई लक्ष्य नहीं है दूर कि तुम्हें तीर बनना है और उस लक्ष्य से जाके जुड़ जाना है वह तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारा अंतरतम है तुम्हारा स्वभाव है जब तक बाहर खोजोगे नहीं पा सकोगे जब भीतर झांकोगे खोना भी चाहो तो नहीं खो सकोगे जिन्होंने बाहर खोजा व्यर्थ भटके जिन्होंने भीतर खोजा वो हंसे मूढ़ता पर अपनी औरों की कि कैसा पागलपन है जो संपदा अपने घर में पड़ी थी हम कहां कहां न खोजते फिरे किन किन द्वारों पर झोली न फैलाई कहां कहां धुतकारे नहीं गए आगे बढ़ो जहां गए वहीं आगे बढ़ो अपने हाथ भिखारी हुए जबकि सम्राट की भांति पैदा हुए थे मगर समय बहुत कम है इस सम्राट से परिचित होना जरूरी है पलटू कहते हैं जीवन है दिन चार उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन वो जो उम्र का मालिक है उम्र के बांटने वाला है वो जो विधाता है उससे चार दिन मांग कर ले आए थे उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में दो आशाओं में कट गए वासना में कट गए कामना में कट गए वासना के बीज बोने में कट गए और फिर दो इस इंतजार में कि अब बीजों में से निकलते होंगे अंकुर कि अब पौधे लगेंगे कि अब फूल लगेंगे कि अब फल लगेंगे ऐसे ही लोग दिन काट लेते जीवन के आधी जिंदगी कामना में आधी जिंदगी अब कामना पकी अब पकी हम सब शेख चिल्ली हैं तुमने शेख चिल्ले की कहानी सुनी ना वो एक खेत में चोरी करने घुस गया बाजरे के भुट्टे पक गए थे उनकी सुगंध हवा में थी बाजरे के भुट्टे सिर उठाए खड़े थे खेत के किसान का दूर दूर कुछ पता ना था शेख चिल्ली ने सोचा ये मौका छोड़ना ठीक नहीं और बाजरे के पौधे इतने बड़े थे कि उनके भीतर छिप जाए तो पता भी न चले तो छिप गया इकट्ठे करने लगा बाजरे के भुट्टे झोली भर ली पूरी बड़ा प्रसन्न था सोचने लगा बाजार में बेचूंगा इतने दाम मिलेंगे मुर्गी खरीद लूंगा अंडे होंगे रोज रोज अंडे देगी मुर्गी फिर जल्दी गाय खरीद लूंगा फिर भैंस और फिर यात्रा बढ़ती चली गई अभी खेत में ही है अभी भुट्टे इकट्ठे ही कर रहा है लेकिन मन बहुत दूर की यात्राओं पर निकल गया यहां तक कि ख्याल आया उसे कि जब भैंस से काफी दूध बेच लूंगा और भैंस के बच्चे होंगे उनको भी बेच लूंगा इतना धन हो जाएगा कि खेत ही खरीद लूंगा ये खेत प्यारा है इसी खेत को खरीद लूंगा और तभी मन में एक डर आया कि चोर घुस जाए खेत में फिर कोई भुट्टे तोड़ ले जाए फिर तो कहा ये खेल नहीं मेरे खेत से भुट्टे तोड़ना खड़े होकर ऐसी आवाज दूंगा कि मीलों तक दाढ़ हो जाएगी और खड़े हो उसने आवाज दी सावधान और किसान जिसका खेत था वो आ गए चोर पकड़ा गया सारे भुट्टों के साथ किसान भी चौंका उसने कहा कि चोरी मेरी समझ में आती थोड़ी बहुत चोरी होती ही है मगर ये खड़े होकर सावधान क्यों चिल्लाए ये मेरी समझ में नहीं आता अगर तुम इसका राज मुझे बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दू भुट्टो सहित छोड़ दू वो चोर कहने लगा ये न पूछो तो अच्छा तुम्हें जो सजा देनी हो दे लो मगर ये राज मैं ना कह सकूंगा कि कैसे मैंने सावधान कहा इसमें मेरी बड़ी दीनता है इसमें मेरी बड़ी मूढ़ता है नहीं माना किसान तो कहानी बताने पड़ी ऐसे तो कहानी पता चली से लिखी अभी कुछ भी ना हुआ था और बात कहां से कहां तक पहुंच गई बात में से बात निकलती गई कामना में से कामना निकलती गई नए नए अंकुर खिलते गए दो दिन तो हम कामना में बिता देते हैं जो कि व्यर्थ गए क्योंकि कामना के किसी बीच से काम में उपलब्ध नहीं होता कामना का बीज दग्ध होता है तब काम में उपलब्ध होता है कामना के बीज से काम में उपलब्ध नहीं होता और फिर दो दिन बीज बो के हम बैठते हैं प्रतीक्षा करते हैं कि अब कि अब कि अब आया वसंत कि अब आई ऋतु आखिर इसी तरह कामना करने वालों ने तो कहावत गढ़ ली कि उसकी दुनिया में देर है अंधेर नहीं तो देर तो काफी हो गई अंधेर तो उसकी दुनिया में है नहीं बस अब आता ही होगा फल अब स्वर्ण मुद्राएं बरसती ही होंगी और ऐसे ही शिक्षलियों ने विचार कर लिए कि जब वो देता है छप्पड़ फाड़ के देता है दो दिन कट जाते हैं कामना में दो दिन कट जाते हैं इंतजार में और चार ही दिन हमारे पास चार दिन भी कहा है अगर आदमी की जिंदगी को गौर से देखो तो ये वक्तव्य सही मालूम होगा जीवन है दिन चार चार दिन प्रतीक है इस देश में हमने जीवन को चार हिस्सों में बांटा है 25 साल अगर 100 साल आदमी की जिंदगी हम कल्पित कर लें अनुमानित कर लें तो पहला दिन 25 साल वो कट जाते हैं शिक्षा में विश्वविद्यालय में गुरुकुल में फिर दूसरा दिन 25 साल ग्रस्त वो कट जाते हैं दुकानदारी शादी विवाह बाल बच्चे फिर तीसरा दिन हमने माना वानप्रस्थ इस आशा में कि अब जंगल की तरफ जाएंगे अब घर गृहस्थी से काम निपटा अब बच्चे भी बड़े हो गए पचहत्तर वर्ष की उम्र तक जंगल जाने की आकांक्षा और फिर चौथा दिन सन्यास का पचहत्तर से सौ वर्ष फिर प्रभु को स्मरण करेंगे लेकिन जिंदगी सौ साल की होती कहा कल का भी भरोसा नहीं है इसलिए जो लोग सोचते हैं कि अंतिम चरण में पचहत्तर और सौ साल के बीच में संन्यास्त हो जाएंगे प्रभु का स्मरण करेंगे भजन में डूबेंगे वो चूक जाएंगे फिर एक बात और ख्याल रखना कि वो जो तीन दिन तुमने गुजारे हैं गलत वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ देंगे वो आदत बन जाएंगे वो अंत तक तुम्हारा पीछा करेंगे इसलिए महावीर और बुद्ध ने एक महाक्रांति की इस देश में इस देश के आध्यात्मिक इतिहास में महावीर और बुद्ध से ज्यादा और ज्योतिर्मय नाम नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत अर्थों में क्रांति की ये जो चार का विभाजन था ये जो जीवन के चार आश्रम थे उन्होंने खंडित कर दिए छिन्न भिन्न कर दिए क्योंकि उन्होंने कहा कल का तो भरोसा नहीं तुम सौ साल का हिसाब लगा रहे हो सन्यास कल नहीं आज सन्यास घड़ी बर्बाद नहीं अभी भारत के पंडित पुरोहित महावीर और बुद्ध को आज भी क्षमा नहीं कर पाए और उसका कारण क्योंकि अगर सन्यास आज तो पंडित पुरोहित का उपयोग आज ही व्यर्थ हो गया सन्यासी को क्या लेना पंडित पुरोहित से ग्रस्त होता तो बच्चे होते यज्ञोपवीत होता हवन होता सत्यनारायण की कथा होती पूजा भी करवानी होती दिवाली होली उत्सव होते पंडित पुजारी को भेंट भी देनी होती स्वयं संन्यास्त हो गया स्वयं ध्यान के जगत में लीन हो गया पंडित पुजारी के पास देने को उसे क्या है संन्यास्त हुआ अर्थात संतों से जुड़ गया जो संतों से जुड़ गया उसके लिए पंडित पुजारी दो कौड़ी के हो गए खिलौने हो गए अब वो बच्चा नहीं रहा कि खिलौनों में उलझा रहे महावीर और बुद्ध ने ये कह के कि सन्यास आज पंडित पुरोहित के पैर के नीचे से जमीन खींच ली इसलिए अगर ब्राह्मणों ने क्षमा नहीं कर पाया तो कुछ आश्चर्य नहीं आज भी नहीं कर पाया पच्चीस साल बीत गए लेकिन उसकी नाराजगी भयंकर पच्चीस साल विद्यार्थी रहते तो भी पंडित के पास रहना पड़ता कौन पढ़ाता कौन व्याकरण कौन संस्कृत समझाता पंडित ही समझाता फिर 25 साल ग्रस्त रहते तो पंडित ही जन्म से लेके मरण तक सारा हिसाब पंडित के हाथ में जन्म पत्री बनाता जन्म कुंडली बनाता बच्चे के संस्कार देता विवाह करवाता फिर पचास वर्ष में वानप्रस्थ होते तो किससे पूछते वही पंडित वानप्रस्थ होने की शिक्षा देता और जो 75 वर्ष तक मूढ़ता में जिया और पंडित के सहारे जिया वो अगर संन्यासी भी होता 75 वर्ष में तो भी इसी पंडित से उसका सन्यास घटने वाला था इस पंडित को भी सन्यास नहीं घटा है ये उसे सन्यास की भी दीक्षा दे देता ये जिंदगी चार दिन की ऐसे ही बीत जाती महावीर ने ये चार का गणित बुद्ध ने ये चार का गणित तोड़ दिया कहा कि न तो चार आश्रम है और न चार वर्ण न तो कोई ब्राह्मण है न कोई छत्री न कोई शूद्र न कोई वैश्य सभी शूद्र हैं जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए वो ब्राह्मण बुद्ध ने कहा ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण और कल का कोई भरोसा नहीं इसलिए आज तत्ण जो जागने को तैयार है वही संन्यास्त भारत की तो सारी की सारी आधारशिला इन्हीं चारों पर टिकी थी चार वर्ण और चार आश्रम ये पूरा गणित तोड़ दिया बुद्ध और महावीर ने मगर पंडित हारे नहीं बुद्ध महावीर के जाते ही उन्होंने फिर अपना जाल फैला लिया और भी मजबूती से फैला लिया और भी सुरक्षा से फैला लिया कि फिर कोई दोबारा न तोड़ पाए 2500 साल में फिर बहुत कोशिश की कबीर ने कोशिश की नानक ने कोशिश की पलटू ने कोशिश की नहीं टूटा नहीं टूटा भारत की छाती पर पंडित का बड़ा जाल है भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत पंडितों के हाथ में इनके कारण अतीत से मुक्त नहीं हो पाता और जिंदगी छोटी है और पंडित का जाल बड़ा है जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए टालो मत कल पर भगवान को याद करना हो तो अभी कर लो कल की तो बात ही मत उठाना जिसने कहा कल उसने कहा नहीं जिसने कहा अभी नहीं उसने कहा कभी नहीं भगवान को स्थगित नहीं किया जा सकता प्रेम को कोई स्थगित करता है टालता है प्रेम के लिए तो आतुरता होती कि अभी हो पलटू कहते हैं भजन कर लो कोई बहाने ना खोजो बहाने खोजे बहुत महंगे पड़ेंगे फिर बहुत पछताओगे फिर पछताने से भी कुछ होगा नहीं भजन का क्या अर्थ होता है बैठ के मंजीरा बजा लिया कि बैठ के राम नाम की धुन कर ली कि राम नाम का अखंड पाठ कर लिया नहीं इन औपचारिकताओं से भजन नहीं होता भजन का तो अर्थ है प्राण प्रभु के प्रेम में पगे एक धुन भीतर बजती रहे अहिरने उठते बैठते एक स्मरण सतत बना रहे एक धारा अंतरधारा बहती रहे प्रभु की जो देखो उसमें प्रभु दिखाई पड़े जो करो उसमें प्रभु दिखाई पड़े जहां चलो जहां बैठो वहां तीर्थ अनुभव हो क्योंकि वह सर्वव्यापी है जिस भूमि पर हम चलते उसकी भूमि जिस भूमि पर बैठते उसकी भूमि सारा जगत परम पुनीत है पावन है क्योंकि परमात्मा से आपूर है बोलो तो उससे बोलना सुनो तो उसको सुनना हवाएं वृक्षों से गुजरे तो उसकी आवाज स्मरण रखना कोयल पुकारने लगे दूर से तो उसने ही पुकारा है कोयल के रूप में ऐसा अनुभव करना ऐसी प्रतीति की सघनता का नाम भजन है बैठ गए और कोई बंदी बंधाई पंथियां दोहरा ली तो भजन नहीं होता तोता रटन थे भजन का धोखा है और ध्यान रखना धोखे सस्ते होते मुफ्त होते भजन करना तो एक अपूर्व कीमिया है तुम्हारे सारे जीवन को एक नया रंग दे जाएगा भजन एक नई शैली इति हुई इतिहास की यदि नेति का धर ध्यान मन से हाहा हेति सुनकर धरन उस पर कान मन कल्पना के कल्प तरु पर यदि न खिलता फूल मौलिक हो न हो हो गई कोई मूल के प्रति भूल मौलिक मूल से तू मौल तक फिर रच नया सोपान मन वज्र किलित कोकिला का कंठ यदि अमराइयों में वज्र को मत देख बनकर बीज गल गहराइयों में विसर्जन से मांग सर्जन का पुनः वरदान मन दूर हंस ध्वन गई आई गई यदि प्रतिध्वनि है छिन्न होकर गगन से यदि खिन्न पथराई अवनी है शून्य के अंतकरण में सुन अतल का गान मन अनसुनी रहती नहीं है अनसुनी आवाज कोई अलग सुनता है कहीं जब सकता है साज कोई हो न कुछ गुंजान में जब साध फिर सुनसान मन नेति का धर ध्यान मन भजन की पहली प्रक्रिया नेति नेति जो जो तुमने मान रखा है मूल्यवान उस सबसे मूल्य को खींच लेना है धन को मूल्यवान माना है कहना नहीं यह नहीं मकान को मूल्यवान माना है कहना नहीं यह नहीं नाते रिश्तों को मूल्यवान माना है कहना नहीं यह नहीं नेति नेति से अब तक तुमने मूल्यों का जो एक जगत निर्माण किया है उसकी आधारशिला खींच लो जिस दिन तुम्हारे सारे तथाकथित झूठे कृत्रिम मूल्य गिर जाएंगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा इति इति फिर जो शेष रह जाएगा मानवीय मूल्यों के हट जाने के बाद जो निसर्ग शेष रह जाएगा वही है वही है यह नहीं यह नहीं ये मनुष्य के मूल्यों के खंडन की प्रक्रिया फिर जब सारे मनुष्य मूल्य खंडित हो गए तब जो शेष रह गया जो तुमने नहीं बनाया है जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है जो तुमसे पहले था तुम हो तो है तुम नहीं होगे तो भी होगा जो तुमसे बाहर भी है और तुम्हारे भीतर भी है फिर जब वही शेष रह गया शुद्ध निसर्ग तब एक प्रतिध्वनि भीतर उठती यही है यही है सर्वम खल विदम ब्रह्म उस दिन अनुभव होता है सब वही है इति हुई इतिहास की यदि नेति का धर ध्यान मन सेति हाहा हेति सुनकर धरना उस पर कान मन अब तक तो हमने जो भी किया है बड़ा भूल चूक भरा है मूल से ही भूल है कल्पना के कल्प तरु पर यद्य न खिलता फूल मौलिक अगर तुम्हारे जीवन में कमल नहीं खिल रहा है तो पुनर्विचार करो अगर तुम्हारी झाड़ी पर गुलाब नहीं उग रहे हैं तो पुनर्विचार करो कल्प ना के कल्प तरु पर यदि खिलता फूल मौलिक हो न हो हो गई कोई मूल के प्रति भूल मौलिक मूल से तू मौली तक फिर रच नया सोपान मन अब हमें फिर एक नई सीढ़ी बनानी पड़ेगी उसी सीढ़ी बनाने की कला का नाम संन्यास है एक तुमने बनाया है संसार उसमें कहीं मूल में भूल हो गई क्योंकि चाहते तो सुख हो पाते दुख हो आशा तो करते हो फूलों की सिर्फ कांटे लगते कांटों पर कांटे लगते जाते जैसे जैसे दिन बीतते कांटे और बड़े होते जाते छाती में चुभते जाते चाहे थे तो फूल मिलते हैं सूल सोचा था छाया मिलेगी शीतल मिलती है दोपहर दोपहर की तपती धूप बरसती आग आशा की थी आकाश कुसुम झरेंगे मगर झरते हैं केवल अंगारे तुम अपनी जिंदगी ही देखो क्या सोचते हो क्या मिलता है ठीक उल्टा मिलता है चाह सम्मान मिलता अपमान चाहे गीत मिलती गालियां कहीं मूल में ही कुछ भूल हो रही बीस तो तुम बो रहे हो नीम के और आशा कर रहे हो आम की नीम के बीज से तो नीम ही पैदा होगा कड़वाहट कड़वाहट ही फैल जाएगी माधुरी का जल नहीं हो सकता मूल से तू मौली तक फिर रच नया सोपान मन सन्यास का इतना ही अर्थ है कि अब हम फिर से गिरा ही दें इस मकान को जो हमने बनाया इसमें ही टीम टाम करना इसमें ही सहारे और लकड़ियां लगाना और टेकन लगाना इसी में लीप पोत करना इसी में रंग बदल देना इसी में थोड़ी सजावट कर लेना इससे कुछ भी ना होगा एक नया ही जीवन का मंदिर बनाना है मूल से ही आधार बदलने होंगे बुनियाद के पत्थर ही बदलने होंगे अभी बुनियाद के पत्थर हैं वासना के विचार के कामना के कल्पना के तब मूल में आधार रखना होगा ध्यान का ध्यान की आधारशिला पर जो मंदिर बनता है वह संन्यास है और विचार की आधारशिला पर जो मकान बनता है वह संसार है कामना के पत्थरों से तुम जो दीवाने बनाते हो वे तुम्हें ले डूबेंगी कब्रें बन जाएंगी करुणा से काश तुम अपनी दीवाले बना सको तो तुम एक ऐसा मंदिर बनाओगे जो शाश्वत का है जिसका फिर कोई अंत नहीं है वज्र किलित कोकिला का कंठ यदि अमराइयों में वज्र को मद्देश बनकर बीज गल गहराइयों में तुम्हें गलना सीखना होगा अभी तुमने सिर्फ बचना सीखा है कैसे बचते रहे लोग बस बचने में लगे सब तरफ से सुरक्षित हो जाएं, सब तरफ सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर लें लोहे की हो तो और भी अच्छी उसकी आड़ में छिप जाएं। तुमने सुरक्षा के मोह में जीवन गंवा दिया है जीवन तो उनका है जो गलना जानते हैं बीज की तरह गलना जानते हैं क्योंकि बीज जब गलता है तभी अंकुरित होता है वज्र को मत देख बनकर बीज गल गहराइयों में विसर्जन से मांग सर्जन का पुनः वरदान मन और धन्य भागी है वे जो विसर्जित होने को राजी क्योंकि जो अपने को विसर्जित कर देता है जो अपने को मिटा देता है उस परम ऊर्जा में जो उसके सागर में बूंद की तरह लीन हो जाता है उसके जीवन में बड़ी सृजनात्मकता पैदा होती उसके जीवन में बड़े काव्य का आविर्भाव होता है वो फिर जो छुए वही सोना हो जाता है अभी तो तुम जो छूते हो वही मिट्टी हो जाता है दूर हंस ध्वनि गई आई गई यदि प्रतिध्वनि है छिन्न होकर गगन से यदि खिन्न पथराई अवनि है शून्य के अंतकरण में सुन अतल का गान मन भजन का अर्थ शून्य के अंतकरण में सुन अतल का गान मन भजन तुम्हें नहीं करना होता भजन तुम्हें सुनना होता है तुम तो शून्य होकर सिर्फ सुनने वाले रह जाओ और उठने लगेगा भजन तुम्हारी ही गहराइयों से उठेगा एक संगीत और आच्छादित कर लेगा तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से उगेंगे फूल और तुम सुबास में डूब जाओगे शून्य के अंतकरण में सुन अतल का गान मन अनसुनी रहती नहीं है अनसुनी आवाज कोई अलग सुनता है कहीं जब सिसकता है साज कोई और भजन तुम्हारा सूखा सूखा हुआ तो व्यर्थ चला जाएगा उसमें आर्द्रता चाहिए उसमें प्रेम का गीलापन चाहिए आंखों में प्रीति के आनंद के अश्रु चाहिए जब तुम्हारे गीले साज पर कोई भजन गाया जाएगा तो जरूर सुना जाता अलख उसे सुनता है अलग सुनता है कहीं जब सिसकता है साज कोई तुम्हारा भजन सिसकी होना चाहिए तुमने तो भजन को भी एक प्रदर्शन बना लिया है मंदिर में जाके जोर जोर से घंटा बजा के जैसे भगवान कोई बहरा हो पहले घंटा बजाओ सोए भगवान को जगाओ जगाना खुद को है जगा रहे हो भगवान को घंटा बजा बजा के और फिर जोर जोर से चिल्ला के भजन करो ताकि पास पड़ोस के लोग सुन लें कि तुम महान धार्मिक व्यक्ति हो ताकि तुमने जो चोरियां की हैं बेईमानियां की हैं धोखेधड़ियां की वो सब तुम्हारे भजन में छिप जाएं भजन की आड़ में हो जाएं मंदिर के घंटे की आवाज भजन पूजा में चढ़ाए गए फूल अर्चना की धूप इस सब धुएं में छिपा लेना चाहते हो तुम अपने को ये सब धोखा है मंदिरों में भजन नहीं होते भजन तो होते एकांत में जहां हृदय से सकता है जहां जार जार रोते हो तुम किसी को बताने की थोड़ी बात है इसका कोई प्रदर्शन थोड़ी करना है ये कोई अभिनय तो नहीं है ये कोई प्रदर्शनी तो नहीं है इसकी कोई नुमाइश तो नहीं सजानी है अलग सुनता है कहीं जब सिसकता है साज कोई हो न कुछ गुंजान में जब साध फिर सुनसान मन सुनसान को साधो कहने को कुछ भी नहीं होता है भजन में कहने को है क्या हमारे पास रोले तो बहुत शब्द क्या कहेंगे आंसू ही कह सकते हैं नृत्य कह सकता है आंखें कह सकती सन्नाटा कह सकता है चित्त का ठहरा हुआ प्रवाह कह सकता है निस्तरंग भाव की दशा कह सकती और कैसे कहोगे लेकिन लोगों ने तोतों की तरह भजन रट लिए हरे कृष्णा हरे रामा कहे जा रहे हैं यंत्रवत कहीं कोई भाव का तालमेल नहीं हृदय सांस ही नहीं है खोपड़ी में ही आवाज गूंज रही इसलिए गीली भी नहीं रूखी सूखी है जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए तन मन धन संवार संत पर दीजिए परमात्मा पर तो तन मन धन वारने को बहुत लोग तैयार हो जाते क्योंकि परमात्मा न तो दिखाई पड़ता है न डर है उससे कुछ तो लोग तैयार हैं वो कहते हैं परमात्मा पे तो सब वारने को तैयार है लोग बड़े कुशल हैं बड़े चालबाज हैं परमात्मा तो कहीं मिलेगा नहीं कि तुमसे कहे कि कुछ दो कि लाओ तुमने कहा था कि सब वारने को तैयार हो दो तन दो धन दो मन परमात्मा तो कहीं कहेगा नहीं परमात्मा तो निराकार है वह तो बोलेगा नहीं सुख ठीक सुविधा है परमात्मा पर सब दान करने को लोग तैयार लोग कहते हमने तो भगवान के चरणों में अपने को छोड़ दिया तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहते हो लोग ऊंचे ऊंचे शब्द बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके खूब चालबाजियां करते मनुष्य को प्रेम नहीं करेंगे मनुष्यता को प्रेम करेंगे मनुष्यता कहीं मिलती मनुष्यता से डर क्या है जब भी कहीं कोई मिलता है मनुष्य मिलता है तुमने कभी मनुष्यता के दर्शन किए लेकिन अगर लोगों से कहो कि मनुष्य को प्रेम करो तो अड़चन होती क्योंकि मनुष्य को प्रेम करने का मतलब है साकार सगुण उससे तो झंझट पैदा होती मनुष्य को प्रेम करना बहुत कठिन अपनी पत्नी को प्रेम करना कठिन अपने पति को प्रेम करना कठिन अपने बच्चों को प्रेम करना कठिन कोशिश करते हैं लोग लेकिन सब कोशिश से हार जाती मनुष्यता को प्रेम करना बहुत आसान कोई झंझट ही नहीं मनुष्यता कहीं मिलती ही नहीं इसलिए लोग ऊंचे ऊंचे शब्दों की आड़ में बेईमानियां करते हैं राष्ट्र को प्रेम करते अब राष्ट्र कहां है भारत माता को प्रेम करते अपनी माता को प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि अपनी माता झंझट खड़ी करती भारत माता बिल्कुल ठीक तस्वीरें बनी थी अभी भी कुछ घरों में लटकी भारत माता बैठी है सिंह के ऊपर तिरंगा झंडा लिए लगता है किसी सर्कस में है या क्या मामला है लेकिन भारत माता को प्रेम किया जा सकता है एकांत माता को प्रेम करो तब तुम्हें वो छठी का दूध याद दिला देगी लेकिन भारत माता से कुछ लेना देना नहीं है थोथे शब्द है मनुष्यता भारत माता भगवान पलटू ठीक कहते हैं सीधे आदमी है साफ आदमी है गर्दन से पकड़ लेते तन मन धन सब वार संत पर दीजिए अगर भगवान से कुछ भी संबंध जोड़ना हो तो कोई सगुण रूप में उसे पकड़ना होगा वही कसौटी होगी संत परमात्मा का साकार रूप है संत का अर्थ है जहां सत्य ने देह धरी जहां सत्य छुआ जा सकता है देखा जा सकता है सुना जा सकता है जहां सत्य के साथ संवाद हो सकता है जहां सत्य के साथ संबंध हो सकता है तन मन धन सब वार संत पर दीखिए तो ही समझना कि तुम्हारे भजन में कुछ अर्थ है अन्यथा थोथी बकवास है और बचाना कुछ भी मत और मजा ये कि संत तुमसे कुछ भी नहीं चाहता ना तुम्हारा तन चाहता ना मन चाहता ना धन चाहता कुछ उससे चाहिए नहीं तुम्हारे पास उसे देने को है भी क्या संत तो सब कुछ तुम्हें देना चाहता है मगर वो दे केवल उन्हीं को सकता है जो सब देने को तैयार है यद्यपि संत को लेने को कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास जो तुम उसे दोगे लेकिन तुम्हारे देने की तैयारी गुरजीफ के जीवन में उल्लेख है गुरजेफ इस सदी के बड़े सदगुरुओं में एक और इस सदी के ही क्यों सारे सदियों के कुछ बड़े सदगुरुओं में एक था उसके अपने अनूठे ढंग थे एक बहुत बड़ी धनपति की पत्नी उसकी शिष्या हो गई औपचारिक रूप से ही उसने कहा कि सब आपके चरणों में चढ़ाती हूं गुरजीत ने कहा सोच ले सब थोड़ी डरी और झिझकी लेकिन अब कह चुकी थी तो उसने कहा सब तो गुरजीत ने कहा कि जितने हीरे जवारात जितने मोती माणिक तेरे पास हो सबकी पोटली बांध के ले आ अब बहुत घबराई मामला ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था ये तो औपचारिकता से कहा था ये तो मामला ऐसा हो गया जैसे मेहमान तुम्हारे घर में आए और आप कहें आइए आइए आपका ही घर है और फिर वो जम के रह जाए वो कह तुम्हें तो कहा था आपका ही घर है सब आपका है औपचारिक शिष्टाचार की बात उसने कही थी कि सब आपके चरणों में समर्पित है इसका कोई मतलब ये नहीं था कि समर्पित लेकिन गुरजीफ ने तो कहा कि ठीक बड़ी बेचैन रात भर सो न सकी पास में जो महिला आश्रम में थी उसने पूछा कि सो नहीं रही बात क्या है तो उसने अपनी दुख कथा कही कि ये मामला तो बहुत महंगा हो गया ये तो करोड़ों के हीरे जवारात मेरे पास है ये मैं कैसे दे दूं अभी इस आदमी को मैं ठीक से जानती भी नहीं नई नई आई हूं तुम तो यहां वर्षों से तुम्हारा क्या ख्याल है उसने कहा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जब मुझसे कहा था कि सब दे दो तो मेरे पास जो भी था मेरे पास करोड़ों के तो नहीं थे मगर कोई लाख दो लाख के गहने मेरे पास भी थे मैंने सब पोटली बांध के दे दी थी उस धनी महिला ने पूछा फिर क्या हुआ तो फिर ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह गुरुजी फिर वो मुझे वापस कर दिए तो उसने कहा निश्चिंत हुई उसने सब बांधी पोट ली जाके गुरुजीव को उसी रात सब दे आई करोड़ों रुपए का जो भी सात सामान उसके पास था दूसरे दिन सुबह रास्ता देखा कि वापस लौटे वो वापस नहीं लौटा तीसरे दिन चौथे दिन अब वो घबराने लगी उसने फिर पड़ोस की महिला से कहा कि भाई कितनी देर लगेगी उसने कहा मैं नहीं जानता मुझे तो दूसरे दिन वापस मिल गया था आखिर उसने जाके गुरुजीएफ को पूछा गुरुजीएफ खूब खिलखिला के हंसने लगा और उसने कहा तेरा वापस नहीं लौटेगा उसका वापस लौटा था क्योंकि उसने सच में दिया था तूने तो दिया ही नहीं वापस क्या खाक वापस तो तब लौटे जब तू दे अभी देना ही नहीं हुआ है तुम्हें वापस भी क्या करूं उसने दिया था वापिस की कोई आकांक्षा से नहीं दिया था दिया ही था समग्र मन से दिया था सो मुझे लौटा देना पड़ा करता भी क्या तूने तो अभी दिया ही नहीं है अभी मुझे मिला कहा अब तो वो महिला और घबराएगी तो हद हो गई मैं देवी गई और ये आदमी ये कह रहा है कि मिला भी नहीं अभी तो मिला भी कहा है वापस में क्या लौटाऊं लेकिन गुरुजी अब ठीक कह रहा है गुरु को अगर तुम दे सको तो सब वापस लौट जाता है शायद हजार गुना हो के वापस लौट जाता है शायद देने की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाव की ही बात पर्याप्त हो जाती मगर बेईमानी नहीं चल सकती गुरजेफ ने लौटा दिया उसका सारा धन और उसने कहा दरवाजे के बाहर हो जा ये स्थान तेरे लिए नहीं ये कोई सौदा नहीं है ये कोई व्यवसाय नहीं है यहां हम किसी आत्मिक क्रांति में संलग्न है फिर तो वो बहुत पछताई बहुत कहा कि नहीं ले लें गुरुजीत ने कहा अभी नहीं अभी तू जा अभी भी तू कह रही कि ले लें इसी आशा में कि वापस लौट आऊंगा जिस दिन वापस लौटाने की कोई भी आकांक्षा भीतर न रह जाए वापस पाने की कोई भी भावना न रह जाए उस दिन आना उस दिन देखूंगा और पक्का नहीं कहता कि लौटाऊंगा वो महिला फिर कभी दोबारा नहीं गई तनमन धन सब वारी संत पर दीजिए धूप है ज्यादा कम है छाया आखिरी है मौसम भी आया टूट चुका है नींद का जादू कोई सपना साथ नहीं है कहने को तो है बहु तेरा वैसे कोई बात नहीं सारी रात राह खुलता जो सुबह वही घूंघट शरमाया धुंधली है तारों की गलियां पाप के रस्ते चमकीले हैं कांटे हैं वैसे के वैसे फूलों के चेहरे पीले हैं खुशबू भटके मारी मारी मधुबन का हर अंग लजाया सांझ के दरवाजे तक हमको छोड़ गई हैं दिन की राहें बस्ती के ऊपर फैली हैं सांपों जैसी काली बाहें मौत के रंग से ज्यादा गहरा उजले इंसानों का साया गीत के सौदे करने वाले दर्द की कीमत को क्या जाने कौन उन्हें जाकर समझाए बिकते नहीं कभी दीवाने अंधकार के रंग महल में कब कोई सूरज सो पाया तेज बहुत है वक्त के पहिए अब रुकने की बात करें क्या राह में क्या कुछ टूटा फूटा सोच ऐसे हम आंख भरें क्या आओ अब सामान संभालें देर हुई यह शहर पराया परदेश में हैं हम देर हुई यह शहर पर आया आओ अब सामान संभाले जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए तन मन धन सब वारी संत पर दीजिए संतई से सब होई जो चाहे सो करे अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे कैसा अद्भुत वचन कहा है कहा कि अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे तुमने तो सुना है भगवान से डरो ईश्वर भीरू हो जाओ लेकिन पलटू कहते हैं कि हमने ये देखा कि संतों से हमने भगवान को डरते देखा संतों के पीछे हमने भगवान को लगे देखा जैसे छाया चलती आदमी के पीछे ऐसे भगवान संत के पीछे चलते भगवान संत की छाया है यूं कहो कि भगवान का ही साकार रूप संत है दोनों बातें एक ही है संत साकार है उसी के आसपास निराकार आभा है अरे हां पलटू संग लगे भगवान संत से वे डरे इसलिए संत के चरणों में सब कुछ हो सकता है मगर उसको ही जो गलने को तैयार हो विसर्जित होने को तैयार हो जो समग्र भांति अपने को समर्पित कर दे अर्पित कर दे रिद्धि सिद्ध से बैर संत दरियावते और ध्यान रखना संतों की पहचान कैसे करोगे मदारियों के चक्कर में मत पड़ जाना क्योंकि संत की पहली पहचान है रिद्धि सिद्ध से बैर संत को न तो सिद्धियों में कोई रस है न रिद्धियों में कोई रस है संत कोई ताबिज नहीं निकालते आकाश से और विभूति नहीं निकालते और स्विस मेड घड़ियां नहीं निकालते रिद्धि सिद्ध से बैर संत दुर्यावते रिद्धि सिद्धि उनके द्वार भी आए तो संत उन्हें ठुकरा देते हैं भगा देते हैं भागो यहां से यहां क्या जरूरत सूफी कहानी एक फकीर परम ध्यान को उपलब्ध हो गया फरिश्ता आकाश से आया और उसने कहा तू मांग ले जो भी वरदान मांगना हो परमात्मा तुझ पर प्रसन्न है उस फकीर ने कहा रास्ता पकड़ो जब मांग थी तुम कहां थे अब मांग नहीं तब आए अब तुम्हारा आना व्यर्थ है भागो यहां से फिजूल समय खराब अपना और मेरा ना करो फरिश्ता तो बहुत हैरान हुआ उसने कहा मैं बहुतों के पास गया मगर इस तरह कहीं नहीं दुर्याया गया मैंने कोई तुम्हारा अपमान कर दिया संत ने कहा अपमान नहीं तो और क्या तुम मुझे भिकमंगा समझे हो मालिक का मालिक मुझे मिल गया अब क्या तुम आए हो यहां क्या तुम दे सकते हो तुम्हारे पास क्या है देने को पर उस फरिश्ते ने कहा भगवान ने ही मुझे भेजा है और इस तरह लौटाने भगवान का अपमान होगा कुछ मांग लो कुछ ऐसी बात मांग लो जिसकी तुम्हें तो जरूरत ना हो लेकिन औरों को जरूरत हो संत ने बहुत सोचा लेकिन उसने कहा मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता जो मांगा जा सके फरिश्ते ने खुद सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं मांग लेते कि तुम बीमार को छुओ तो बीमार ठीक हो जाए अंधे के हाथ आंख पर हाथ रखो तो अंधा ठीक हो जाए मुर्दे को छू दो तो जी जाए इससे लोगों की सेवा होगी करुणा बहेगी तुमसे लोगों में धर्म का सद्भाव जगेगा परमात्मा की प्रीति उमगेगी संतन का ये बात तो ठीक लगती मगर इसमें एक खतरा है इसमें मेरी अकड़ पैदा हो सकती कि मैं किसी अंधे की आंख छू और वो ठीक हो जाए तो मेरे भीतर अकड़ खड़ी होगी आह देखो मैंने इसकी आंख ठीक कर दी और मुर्दे को जिला दिया तो मेरे भीतर कोई कहेगा कि देखा है कोई और जो मुर्दे को जिला दे फरिश्ता माना ही नहीं तो संत ने कहा फिर एक काम करो तुम मेरी छाया को वरदान दे दो मैं तो वरदान नहीं चाहता मेरी छाया अगर मुर्दे पे पड़ जाए तो जी जाए मुझे पता नहीं चलना चाहिए मेरी छाया अगर सूखे वृक्ष पर पड़ जाए तो वो हरा हो जाए मुझे पता नहीं चलना चाहिए और कहते हैं तब से वो संत भागता रहता था लोग उससे पूछते कि रुकते क्यों नहीं तो वो कहता कहीं छाया का मुझे पता ना चल जाए कि छाया क्या कर रही तो वो भागते ही रहता ताकि छाया जो भी करे करे मुर्द जी गए सूखे वृक्षों में फूल फल लग गए अंधे ठीक हो गए बीमार स्वस्थ हुए लेकिन उस फकीर को कभी पता नहीं चला क्योंकि वो भागता ही रहता वो रुकता ही नहीं देखने के लिए कि छाया क्या कर रही है सूफी ठीक कहते हैं यही फकीर का लक्षण है रिद्धि सिद्धि से बैर संत दुर्यावते इंद्रासन बैकुंठ विष्टासन जानते उन्हें तो इंद्र का आसन भी देते हो उन्हें बैकुंठ में भी जगह मिलती हो तो भी उनके लिए मल मूत्र से ज्यादा नहीं है करते अविरल भक्ति प्यास हरिनाम की उनका तो सारा ध्यान बस एक बात में लगा है कहां का बैकुंठ कहां का इंद्रासन अविरल भक्ति एक अविरल धारा बह रही उनके भीतर तो आनंद की उत्सव की वहां तो एक नृत्य गान चल रहा है भीतर बैकुंठ तरसता होगा उनके भीतर आने को वो क्यों बैकुंठ के पास जाने को तरसे इंदिरा सन तड़फता होगा कि उनके चरण छू ले वो क्यों इंद्रासन की फिक्र करे वहां तो बस एक ही धुन है एक ही स्वर है हरिनाम का एक ही प्यास है अरे हां पलटू संतन चाहे मुक्ति तुच्छ के ही काम की यहां भक्तों ने ध्यानियों को भी मात दे दी है ध्यान की आकांक्षा मोक्ष की मुक्त हो जाऊं सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं भक्त कहता है अगर बंधन तेरे हैं तो मैं इसकी भी क्या फिक्र करूं इन तुच्छ बंधनों से क्या मुक्त होना अगर तूने दिए हैं तो राजी अगर तूने दिए हैं तो प्यारे अगर तूने ही दिए हैं तो तेरी मर्जी पूरी हो मैं तेरे बंधनों से राजी हूं तू जहां रखे राजी तुझसे अन्यथा मेरी कोई चाह नहीं मेरे लिए मुक्ति भी तुच्छ है मेरी मांगी मुक्ति तुच्छ है तेरे दिए हुए बंधन भी महान है अरे हाँ पलटू संत न चाहे मुक्ति तुच्छ के ही काम की आगम कहे न संत प्यारे वचन है खूब खूब ध्यान करना इन वचनों पर गहरे नहीं उतर जाने देना इनका रस तुम्हारी पोर पोर में समा जाए आगम कहे न संत संतों को शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं आगम निगम सब व्यर्थ है उनके लिए वेद कुरान बाइबल उन्हें कुछ सार नहीं रखते इनमें क्या पड़ा है ये तो नक्शे हैं और नक्शा असलियत नहीं जैसे भारत का नक्शा भारत नहीं और हिमालय की तस्वीर हिमालय नहीं ये सारे शास्त्र तो नक्शे हैं संत को तो सत्य मिल गया अब नक्शों की कौन फिक्र करे आगम कहे न संत भड़ेरिया कहते आगम तो जो भाट है जो स्तुति कर कर के परंपरा की लोगों का शोषण करते जो तुम्हारे अतीत का गुणगान करके तुम्हारे अहंकार को भरते भडेरिया भड्डरी पंडित भट्टारक भाट उनका धंधा है ये कि वो आगम निगम की बात करें संत तो जो बोलते हैं वही शास्त्र है नहीं बोलते तो शास्त्र बोलते तो शास्त्र उठते तो शास्त्र बैठते तो शास्त्र संत न औषधि देत वैद यह करत और संत कोई औषधि नहीं देते फिरते वो धंधा वैद्यों का है मगर इस देश में ये भ्रांति खूब फैली है यहां लोग संतों के पास जाते हैं क्योंकि बीमारी है कोई संतों के पास जाता है क्योंकि कोई नौकरी नहीं लग रही अभी परसों ही एक युवक ने मुझसे आके कहा बस इतनी ही प्रार्थना है दो चीजें चाहिए भौतिक समृद्धि भी मिले और आध्यात्मिक समृद्धि भी मिले और भी लोग मौजूद थे इसलिए मैंने उससे कुछ कहा नहीं नहीं तो कहना मैं चाहता था कि तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला और अगर लोग मौजूद ना होते तो मैं उससे कहना चाहता अच्छा तू दो में से एक चुन ले एक का वरदान में देता हूं तो पक्का था कि वो कहता भौतिक समृद्धि आध्यात्मिक समृद्धि तो उसने सिर्फ मुझे प्रसन्न करने के लिए जोड़ दी थी उसकी शकल से मालूम पड़ रहा था कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों मिले अगर मैं जिद करता कि दो में से एक चुन तो वो कहता फिर पहले भौतिक मिल जाए फिर आध्यात्मिक पीछे देख लेंगे उसकी शकल से ही टपक रही थी बात उसकी शकल पे ही वो घिनौनापन था जो रुपए पैसे की पकड़वानों के चेहरे पर होता है जिसे घिसे पिसे रुपए हो जाते ना नोट भी चलते चलते कैसे गंदे हो जाते वैसी शक्लें हो जाती हैं नोट प्रेम करने वाले लोगों की घिसे पिसे रुपयों की तरह हो जाते हैं वो हजार हाथ से जाते इससे ज्यादा गंदगी और कोई चीज में होती नहीं जितने रुपए पैसे में होती पता नहीं चिकित्सक इस संबंध में कुछ क्यों नहीं करते क्योंकि मेरी मान्यता है कि नोटों में जितने संक्रामक बीमारियां फैलाने की क्षमता होती होगी और किसी चीज में नहीं हो सकती क्योंकि टीबी वाला लिए फिर रहा है कैंसर वाला लिए फिर रहा है फ्लू है और लोग लिए फिर रहे हैं बुखार चढ़ा है और नोट खीसे में है खांस रहे हैं खकार रहे हैं और नोट ही नोट भरे और ये नोट चल रहे हैं इनका नाम ही अंग्रेजी में करेंसी करेंसी मतलब जो चलती चलती रहे इनका चलन हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ दूसरे हाथ से तीसरे हाथ ये कितने हाथों में जा रहे हैं नोट से ज्यादा गंदी चीज इस जमीन पर खोजनी मुश्किल है और जो नोटों के प्रेम में पड़ जाता है उसका चेहरा भी उतना ही गंदा हो जाता है उसके चेहरे पर फूलों की ताजगी नहीं रह जाती नोटों की गंदगी हो जाती अगर फूल दुनिया में सबसे ताजे हैं तो नोट दुनिया में सबसे गंदे फूलों को प्रेम करने वाले के चेहरे पर फूलों का कुछ तो भाव होता उसकी आंखों में कुछ तो कमल खिलते लेकिन इस देश में ये हो गया है पागलपन लोग समझते हैं वो आध्यात्मिक मंदिर जाते तीर्थ जाते तथाकथित संतों के पास जाते मगर उनके इरादे बड़े भौतिक भारतीयों को कहो कि तुम बहुत भौतिक हो तो उनको बहुत नाराजगी होती है मगर मजबूरी है तुम्हारा तथाकथित धर्म बस तथाकथित है तुम्हारी मांग बताती कि तुम्हारी असलियत क्या है मेरे पास भी लोग आ जाते इतनी रुकावटें मैंने खड़ी कर रखी इन्हीं लोगों के लिए कि इस तरह के लोगों को मैं नहीं चाहता लेकिन मेरे पास लोग आ जाते किसी को बीमारी है किसी को नौकरी नहीं मिल रही किसी का धंधा ठीक नहीं चल रहा पलटू कहते हैं आगम कह न संत भड़ेरिया कहते संत न औषधि देत वैद यह करत है झार फूक ताबीज ओझा को काम है अरे हाँ पलटू संत रहित परपंच राम को नाम है पलटू कहते हैं अगर संत न मौजूद हो तो तुम राम की कितनी ही गुहार लगाओ सब प्रपंच सब व्यर्थ है राम का स्मरण सार्थक तभी है जब राम को जानने वाला मौजूद हो तुम्हारे साथ राम जिसके भीतर घटा हो उसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर भी कुछ घट सकता है अन्यथा नहीं इतराकर यो राजहंस से कहता आज उलूक सुन बेटा मैं करता हरदम बात खरी दो टूक राज हवेली में महलों में मेरा नित्य निवास ताल तलैया में करता तू संबूक आज तलाश कभी किसी युग में मुक्ताहल तूने चुगे जरूर अब तो मोती मोती के भी अब तो मोमी मोती के भी दाम बड़े भरपूर तू जिसका वाहन है मैं करता उसका व्यापार सभी मुद्रणालय मेरे मेरे सब ग्रंथागार मेरे हाथ बिके वाणी के साधक सभी समान नत मेरी बोली के आगे सभी गुणी मतिमान मैं हूं जिसका वाहन उसका आज विश्व पर राज नाच रहा उसकी इंगित पर सारा सुधी समाज कौ बगलों का दरबारी तू भी बना निदान देख रहा क्यों मान सरोवर का सपना नादान बन जा मेरी निपुण स्वामी का अब तू भी भाट पोखर में सड़ने से अच्छा गा उसका ही ठाट वही गा रहे आज गिरा की वाणी के सप्ताह सुन बेटा मेरी देवी का जय जयकार अपार उल्लू हंसों को समझा रहे हैं इतराकर यू राजहंस से कहता आज उलूक सुन बेटा मैं करता हरदम बात खरीदो टूक पंडित पुजारी अंधे लोग हैं जिनको दिन में भी नहीं सूझता ऐसे उलूक है लेकिन वे सारी दुनिया को समझा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही तुम भी करो जो भजन हम करते हैं जो हवन हम करते हैं वही तुम भी करो इसी से मिलेगी रिद्धि इसी से मिलेगी सिद्धि हम जो शास्त्र पढ़ते हैं तुम भी कंठस्थ करो हम जिस ज्ञान की देवी के भक्त हैं तुम भी हो जाओ हमारे जय जयकार में तुम भी सम्मिलित हो जाओ मत सपने देखो मान सरोवर के लेकिन तुम्हारे प्राण उल्लुओं की इन बातों से तृप्त नहीं हो सकते प्राण तो मानसरोवर का सपना ही देखेंगे और सपना देखते रहना मानसरोवर का और अगर कभी कोई मानसरोवर को जानने वाला मिल जाए तो पकड़ लेना उसका संग साथ उसके संग साथ होते ही तुम्हारी यात्रा भी चल पड़ेगी परमात्मा की ओर अरे हां पलटू संत रहित परपंच राम को नाम है बिना संत के बिना किसी पथ प्रदर्शक के जो हो आया हो मानसरोवर तक तुम पहुंच ना सकोगे रास्ते में भटकाने वाले बहुत हैं अटकाने वाले बहुत हैं क्योंकि तुम भटको और अटको इसमें लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है तुम पहुंचो इसमें किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तुम्हें तो वही पहुंचा सकता है जिसका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं रहा स्वा ही नहीं रहा तो स्वार्थ क्या रहेगा थोड़ा सा सम्मान मिला पागल हो गए थोड़ा सा धन मिला बेकाबू हो चले थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली थोड़ा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे थोड़ा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला थोड़ा सा अधिकार मिला दूसरों को तबाह कर दिया इस प्रकार तमाम उम्र चलनी से पानी भरते रहे अपनी समझ से बहुत बड़ा काम करते रहे बस पंडितों की जिंदगी चलनी से पानी भरने जैसी है भरते तो बहुत मेहनत तो बहुत करते लेकिन चलनी में कभी पानी भर नहीं पाता और बुद्धि कभी बुद्धिमान नहीं हो पाती बुद्धिमत्ता तो हृदय में घटती और हृदय में जाने का द्वार तर्क नहीं शास्त्र नहीं प्रेम है भजन है हरिजन हरि है एक शब्द के सार में अगर तुम्हारे भीतर वह ध्वनि गूंजने लगे शब्द का सार गूंजने लगे अगर तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद तुम्हें सुनाई पड़ जाए जो कि गूंज तो रहा है लेकिन तुम्हारे विचारों के शोरगुल के कारण सुनाई नहीं पड़ रहा है जो अहिर्निस तुम्हारे भीतर हो रहा है लेकिन बाजार भरा है तुम्हारे मस्तिष्क में और उस बाजार को तुम बढ़ाते चले जाते हो तुम्हारे मस्तिष्क में गीता गूंज रही वेद गूंज रहे कुरान बाइबल गूंज रही और मस्तिष्क के नीचे हृदय में ओंकार का नाद दबा पड़ा है हटाओ शास्त्रों को हटाओ शब्दों को तो शब्दों का सार सारों का सार तुम्हें उपलब्ध हो जाए हरिजन हरि है एक उस दिन तुम जानोगे कि संत में और परमात्मा में भेद नहीं हरिजन हरि है एक शब्द के सार में जब तुम अपने भीतर ओंकार का नाश सुनोगे तो तुम चकित हो जाओगे कि, कि जो परमात्मा में है सागर की तरह वही संत में है बूंद की तरह बूंद और सागर एक है जो चाहे सो करे संत दरबार में जिसको बौद्ध परंपरा में बुद्ध ऊर्जा का क्षेत्र कहा है उसको ही फकीरों ने संत दरबार कहा है संत का भी एक दरबार है उसकी भी एक अपनी दुनिया है सम्राटों के दरबार में क्या रखा सम्राटों के दरबार में तो छिद्र का लेन देन है व्यवसाय है दरबार तो फकीरों के होते क्यों क्योंकि वहां असली संपदा है असली साम्राज्य जो एक बार मिल जाए तो कभी खोता नहीं चोर जिसे लूट नहीं सकते आग जिसे जला नहीं सकती मृत्यु जिसे छीन नहीं सकती जो चाहे सो करे संत दरबार में तुरंत मिलावे नाम एक ही बात में तुम्हारी तैयारी भर हो तो तुरंत मिलावे नाम एक ही बात में अरे हाँ पलटू लाली मेहंदी बीच छिपी है पात में जैसे हरे पत्ते में मेहंदी के लाली छिपी दिखाई तो नहीं पड़ती थोड़ा पीसो प्रकट होने लगती है ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में हरि छिपा हुआ है थोड़ा पीसो संत के दरबार में तुम मेहंदी के पत्ते हो तुमको पीसता है तुम्हारे अहंकार को गलाता है तुम्हारे कूड़े कचरे को जलाता है तुम्हें निखारता है कुंदन बनाता है और तुम्हारे भीतर छिपी हुई लाली प्रकट होनी शुरू हो जाती मगर पिसोगे तो ही अरे हां पलटू लाली मेहंदी बीज छिपी है पात में परमात्मा कहीं दूर नहीं तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हारे पत्ते में छिपा है पत्ते पत्ते में छिपा है पत्ते पत्ते पर उसका हस्ताक्षर है करते बट्टा ब्याज कसम सब है जगत का लेकिन पंडित पुरोहित तो धंधे में है एक व्यवसाय है जो धर्म के नाम पर चल रहा है और धर्म के नाम पर जितनी आसानी से चल सकता है किसी और चीज के नाम पर नहीं चल सकता है धर्म के नाम पर जितना धोखा संभव है किसी और चीज के नाम पर संभव नहीं क्योंकि धर्म अदृश्य का व्यवसाय है कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता कुछ पकड़ने भी नहीं आता तराजू में कुछ है भी या नहीं ये भी समझ में नहीं आता तराजू खाली भी हो सकता है और तौले जाए और तुम सोचोगे तुम्हारी झोली भर रही करते बट्टा ब्याज कसब है जगत का माया में है लीन बहाना भगति का कहो तनक नहीं छुई गया बैराग है अरे हां पलटू जन्मे पूत कपूत लगाया दाग है धर्म के धंधे से थोड़ा जागो है धंधे का अर्थ है जिन्होंने जाना नहीं वो दूसरों को जना रहे जिन्हें मिला नहीं वो दूसरों को मिलवा रहे जिनके पास नहीं वो केवल उधार शास्त्रों के आधार पर औरों को समझा रहे हैं स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे इस सदी में भारत ने जो बहुमूल्य रत्न पैदा किए उनमें एक है स्वामी राम अमेरिका में बहुत सम्मान मिला उन्हें लोग उनके पीछे पागल थे पागल होने जैसे वो आदमी थे जैसे भोरे दीवाने हो जाएं फूलों के पास कि परवाने दीवाने हो जाएं समा के आसपास ऐसे राम के आसपास लोग दीवाने हो जाते थे बात थी कुछ गहरी बात थी कुछ रस था कुछ कि जिनके पास थोड़ी भी हृदय की क्षमता थी उनकी हृदय तंत्री बज उठती थी फिर राम भारत वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि पश्चिम में इतने लोगों ने रस लिया तो सबसे पहले भारत में कहा यात्रा शुरू करूं स्वभावता सोचा वाराणसी और वाराणसी में जो हुआ राम चौंक गए वाराणसी में राम का जो स्वागत हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी बोलने खड़े हुए पांच सात मिनट ही बोले होंगे कि एक पंडित खड़ा हो गया महापंडित काशी का और उसने कहा रुकिए संस्कृत आती राम को संस्कृत नहीं आती थी पंजाब में पैदा हुए लाहौर में पढ़े फारसी आती थी उर्दू आती थी संस्कृत नहीं आती थी वो पंडित खिलखिला के हंसने लगा और सारी सभा भी हंसने लगी और उस पंडित ने कहा संस्कृत नहीं आती और ब्रह्म ज्ञान छांट रहे हो बिना संस्कृत के ब्रह्म ज्ञान कैसा पहले संस्कृत सीखो पहले व्याकरण सीखो फिर ब्रह्म ज्ञान की बात करना राम को तो इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने यात्रा का ख्याल ही छोड़ दिया भारत में वो तो हिमालय चले गए न केवल हिमालय चले गए बल्कि तुम जान के हैरान हो गए उन्होंने गैरिक वस्त्र भी छोड़ दिए उन्होंने साधारण वस्त्र पहन लिए इस देश में अब क्या मूल्य है गैरिक वस्त्रों का उन्होंने सोचा जहां संस्कृत जानना ब्रह्म को जानने का पर्यायवाची हो गया हो अब इस देश में क्या सन्यासी मगर ये सदा होता रहा है लोग व्यर्थ की बातों को मूल्य देने लगते हैं भाषा व्याकरण तर्क गणित जानना कुछ बात और है जानना अनुभव है मैं उस दिन नदी के किनारे पर गया तो क्या जाने पानी को क्या सूझी पानी ने मुझे बूंद बूंद पी लिया और मैं पिया जाकर पानी से उसकी तरंगों में नाचता रहा रात भर लहरों के साथ साथ सितारों के इशारे बांचता रहा डुबकी मारने की कला चाहिए ऐसी कला चाहिए कि तुम परमात्मा को ही ना पियो परमात्मा तुम्हें पी ले और मैं पिया जाकर पानी से उसकी तरंगों में नाचता रहा रात भर लहरों के साथ साथ सितारों के इशारे बांचता रहा कहा वेद कहा कुरान सितारों में इशारे हैं तुम्हारे श्वास श्वास में इशारे हैं लेकिन जिनके जीवन में न तो भगत का कोई लक्षण न प्रेम का कोई रंग है जिनके जीवन में वैराग्य का कोई अनुभव नहीं वैराग्य की तो बात छोड़ो जो अभी राग से भी परिचित नहीं है राग में ही नहीं पक पाए थे अभी और कच्चे कच्चे भाग गए जैसे कुमार घड़ों को पकाता है आग में ऐसे संसार का राग आग है जिसमें पको तो ही मजबूत घड़े बन सकोगे कोई होशियार घड़ा आग से बचने के लिए कच्चा ही भाग खड़ा हो ऐसे ही घड़े तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी बने बैठे कच्चे घड़े पानी के एक ही झोंके में बह जाएंगे राग ही नहीं पका है अभी तो वैराग्य कैसे होगा राग के अंतिम चरण में वैराग्य होता है बुद्ध हुए वैरागी हो सके क्योंकि राग ने पका दिया था महावीर हो सके विरागी क्योंकि राग ने पका दिया था जैनों के चौबीस तीर्थंकरी राजपुत्र राग ने पकाया ऐसा पकाया कि फिर वैराग्य का फल लगा ये तुम्हें उल्टी बात लगेगी लेकिन ख्याल रखो ये जीवन का नियम ऐसा है यहां आग से गुजर बिना सोना कुंदन नहीं बनता गधे ने शेर की खाल ओढ़ी महज एक कहावत है मुहावरा है एक झूठ है पर तुम्हें वस्त्रों से खींचकर देखने पर भीतर छिपे सर्प श्यार से लेकर भेड़िया और गिद्ध तक नजर आते हैं साफ साफ आदमी की खाल जंगल ने पहन ली एक सच वो तो कहावत है कि गधे ने शेर की खाल ओढ़ी गधों में इतनी अकल कहा है कि शेर की खाल ओढ़ लें आदमी में इतनी अकल जरूर है कि गधे हैं और शेर की खाल ओढ़ लें पांडित्य का आवरण ओढ़ ले लेकिन बस आवरण आवरण ही है और गधा शेर की खाल भी ओढ़ ले तो भी क्या होता है मौके बेमौके रेंक देगा बस सब पोल पट्टी खुल जाएगी पंडित को जरा खरोचो जरा खरोचो और भीतर से सारे जंगली जानवर निकलने शुरू हो जाएंगे पूरा जंगल भीतर छिपा है कारण कारण है कि हम संसार को कच्चा छोड़ के भाग रहे हैं इसलिए मैं अपने सन्यासी को संसार छोड़ने को नहीं कहता मैं कहता हूं आएगा एक वैराग्य जरा ठहरो जरा हिम्मत रखो जरा इस आंख से गुजरो राग की इसी आंख से गुजर के वैराग्य आएगा राग की ही अंतिम परिणति वैराग्य है बुद्ध ने अगर राग को न जाना होता तो कभी बुद्ध न हुए होते कल की रात मैं निश्चित ही गौतम बुद्ध बन जाता अज्ञानी था ज्ञानी और प्रबुद्ध बन जाता पर बन न सका वनवास को वस्त्र मानकर पहन ना सका क्योंकि मैं सिद्धार्थ नहीं था सामान्य था तन मन में या जड़ चेतन में कहीं भी परमार्थ नहीं था घर छोड़ नहीं सका क्योंकि इतना पुरुषार्थ नहीं था कल दोपहर आराम से बैठकर अपने रथ पर अनजाने त्याग सा निकल पड़ा पाटलिपुत्र के राजपथ पर घोड़ों की जगह जूती थी मेरी इंद्रियां घोड़ों की जगह जूती थी मेरी इंद्रियां सारथी की जगह बैठा था मेरा स्वार्थ चौराहे को पार करते न करते एक चमकती लंबी कार उससे उठी धूल और धूल के पर्दे के पार देवता की तरह मुस्कुराते देवदार और कचनार मेरी अंतरात्मा प्रलोभन से भर गई हाय मेरी यह दशा कब होगी सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है पहले घर जाकर खाना खाना है जल्दी से पार्ट टाइम ट्यूशन पर जाना है पंचर जुड़वाना है खाता खुलवाना है सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है शाम को अपने थके मांदे अस्तित्व को रथ में घसीटता सा घोड़ों को पुचकारता मारता पीटता सा छह के रोगी सा निस्तेज कमजोर मैं लौट रहा था अपने राजमहल की ओर राह की बगल में बिछे खेल के मैदान की पगडंडी पर एक स्वस्थ सुंदर नव युवक के पुष्ट तन को देख उसके बलिष्ठ हाथ पैर और गर्दन को देख उसके उभार घेराव और संवर्धन को देख मैं ईर्षा से जल उठा हाय मेरी यह दशा कब होगी सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है पहले दवा के लिए डॉक्टर पहाड़े के घर जाना है फिर कसरत करने के लिए अखाड़े पर जाना है सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है रात को दूध धुले कपड़ों पर दो चार गहने गहनों के इर्द गिर्द मोहरे की माला पहने गहनों के इर्द गिर्द मोगरे की माला पहने आंखों में बोतल दो बोतल का नशा लिए भिंडी बाजार के कोठों के पास से गुजरते हुए इधर उधर आंखों से दृश्यों को चरते हुए काम विवल पाषाण युग के दो नग्न बुतों को देख अंधकार में उजागर होती उसकी करतूतों को देख मैं वासना में डूब गया हाय मेरी यह दशा कब होगी सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है पहले ससुराल जाकर यशोधरा को लाना है उसके गहने बनवाना है सलवार सिलवाना है कुर्ती कटाना है और राहुल को स्कूल में भर्ती कराना है सारथी मेरे रथ को लौटा ले मुझे कहीं नहीं जाना है तो कल की रात मैं निश्चित ही गौतम बुद्ध बन जाता अज्ञानी था ज्ञानी और प्रबुद्ध बन जाता पर बन न सका बनवास को वस्त्र मानकर पहन ना सका क्योंकि मैं सिद्धार्थ नहीं था और आगे अगर खुली नजरें रही तो कहीं बन न जाऊं इसलिए आंखों पर काला चश्मा लगा लिया है और कहीं रात को घर से भाग न जाऊं इसलिए द्वार बंद करके भीतर से ताला लगा लिया है नहीं बिना राग को ठीक से जाने पहचाने राग के साक्षी बने वैराग्य का अवतरण नहीं होता है तुम्हारे भगोड़े सन्यासियों में तुम्हें वैराग्य नहीं दिखाई पड़ सकता कहीं तनिक नहीं छुई गया बैराग है अरे हाँ पलटू जन्मे पूत कपूत लगाया दाग है और इन झूठे कच्चे भगोड़ों ने सारे सन्यास के ऊपर दाग लगा दिए सन्यास ही इनके कारण निंदित अपमानित लांछित हो गया है सन्यास को फिर ताजगी देनी फिर स्वास्थ्य देना है क्योंकि सन्यास इस जगत का परम फूल है जिस दिन इस पृथ्वी से सन्यास विदा हो जाएगा उस दिन इस पृथ्वी पर रहने योग कुछ भी न रह जाएगा सन्यास काव्य है गरिमा है गौरव है मगर गुजरना होता है राग की अग्नि से तो वैराग्य पकता है गुजरना होता है संसार की कठिनाइयों से तो सन्यास का फूल खिलता है तूफानों में से गुजर के ही ये नौका किनारे लगती तूफान कसौटी है पगड़ी धरा उतारी टका छह सात का मिला दुसाला आए रुपया साठ का गोड़ धरे कछु दे ही मुंडाए मूंड के अरे हाँ पलटू ऐसा है रोजगार कीजिए ढूंढ के धर्म के नाम पर खूब धंधा चल रहा है लोग छोड़ के आ रहे हैं छोड़ने को कुछ है ही नहीं पगड़ी धरा उतारी टका छह सात का छह सात टके की पगड़ी थी उसको उतार कर रख दिया उसका कहा महान त्याग हो गया मैं एक सज्जन को जानता हूं होम्योपैथी के डॉक्टर थे डॉक्टरी तो चलती नहीं थी उनकी दुकान पर मरीज कभी मैंने देखा नहीं ऐसे मोहल्ले पड़ोस के लोग अखबार पढ़ने के लिए आ जाते थे फिर एक दिन मैंने देखा कि वो संस्त हो गए उन्होंने सब त्याग कर दिया न पत्नी थी न बच्चा उतने पैसे भी कभी नहीं जुटा पाए कि शादी करते हैं माँ बाप बचपन में मर गए थे कुछ पीछे छोड़ भी नहीं गए थे दुकान चलती नहीं थी इससे बेहतर कुछ और था भी नहीं कोई पांच सात साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ तो बड़े सम्मानित हो गए थे बात बात में दोहराते थे कि मैंने लाखों पर लात मार दी जब और लोग चले गए मैंने उनसे कहा कि कम से कम मेरे सामने तो ये ना कहो मुझे तुम्हारी होम्योपैथी कितनी चलती थी वो मालूम और जहां तक मुझे याद है पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे बासठ रुपए से ज्यादा नहीं थे और वो भी तुमने किस हिसाब से इकट्ठे कर लिए थे चमत्कार है तुम लाखों की बात कर रहे थे लाखों पे लात मार दी उन्होंने बड़ी नाराजगी से मुझे देखा सत्य को कोई बर्दाश्त नहीं करता है तब से वे इतने नाराज हो गए कि मेरे खिलाफ जो भी बनता है बोलते रहते और वो आदत उनकी गई नहीं वो कहते ही चले जाते कि मैंने लाखों पे लात मार दी क्योंकि लोग सम्मान उतना ही देते जितना तुमने त्याग किया हो त्याग करने का भी लोगों के पास कुछ नहीं तुम जरा देखो तो जाके जब कुंभ का मेला भरता है तुम जरा अपने सन्यासियों को साधुओं को नागा बाबाओं को उनकी कतारों को तो देखो इनके पास कुछ था जिसको इन्होंने छोड़ा है इनके पास कुछ था ही नहीं इसलिए छोड़ने का मजा भी ले लिया और त्यागी भी बन गए महात्यागी बन गए पगड़ी धरा उतारी टका छह सात का छह सात टके की पगड़ी थी वो रख दी और मिला दुसाला आया रुपया साठ का और लोगों ने बड़ा सम्मान दिया लोगों ने कहा महात्यागी गोल धरे कछु दे ही मुड़ाए मूंद के सिर से अगर बाल घुटवा दिए तो कौन सी बड़ी कला हो गई और अगर जमीन पर घुटने टेक कर आकाश की तरफ हाथ जोड़ के तुमने प्रार्थना भी कर ली तो क्या हो गया अरे हां पलटू ऐसा है रोजगार कीजिए ढूंढ के अगर रोजगार ही करना हो तो ये रोजगार है ढूंढ के करने जैसा है कुछ लगता भी नहीं और धंधा भी खूब चलता है कुछ खर्च भी नहीं कुछ पूंजी भी नहीं लगती कुछ ब्याज भी नहीं भरना पड़ता सिर्फ बकवास आनी चाहिए बकवास को लोग ब्रह्म ज्ञान समझते सीख लो कुछ तुलसीदास की चौपाइया और सीख लो कुछ गीता और सीख लो कुछ पुराण की कथाएं और तुम ज्ञानी हो गए मशक्कत न हो सकी मुनाया मूंड तब जब मेहनत नहीं हो सकी तो सिर मुंडा लिया सेती मेती में खाए मिला औसान अब अब बिना कुछ मेहनत किए मुफ्त खाने को मिलने लगा सन्यास हो गया सम्मान मिलने लगा आदर मिलने लगा मुफ्त खाने को मिलने लगा जिस आदमी को तुम चरण छूते सन्यासी देखकर वही आदमी अगर गैर सन्यासी के बेस में तुम्हारे द्वार पर आके भीख मांगने आए तो तुम दो पैसे नहीं दोगे एक प्रतिष्ठा हो गई मुफ्त इससे सस्ता और क्या धंधा होगा तब नागा हुए लेहन रहे ना काम के और जब देखा कि इस तरह प्रतिष्ठा मिलती सिर मुंडा लिया आदर मिला कुछ था भी नहीं छोड़ने को दो चार टके की पगड़ी थी वो त्याग दी इतना आदर मिला जब ये समझ में आ गया गणित तो लोग कपड़े तक छोड़ देते कपड़ों में भी कुछ नहीं था फटे पुराने थे शायद अपने भी ना हो मांगे तुंगे हो उधार हो लोग नग्न तक हो जाते क्योंकि नग्न साधु को बहुत आदर मिलता है उसने तो परम त्याग कर दिया हमने ऐसी मूर्तापूर्ण धारणाएं बना ली है कोई भूखा मरे महात्यागी कोई नंगा खड़ा हो जाए महात्यागी कोई धूप में खड़ा रहे महात्यागी हमने त्याग की बड़ी असृजनात्मक धारणाएं बना ली कोई गीत रचे कोई वीणा बजाए कोई बांसुरी पर सुर उठाए अनाहत भी जगा दे तो भी हमें फिक्र नहीं हमने किए बांसुरी कितनी बजाई इसकी हमें फिक्र नहीं वीणा पर कैसे तार छेड़े इसकी हमें फिक्र नहीं दिए जल जाएं चाहे वीणा पर तार छेड़ने से लोगों के हृदय के दिए जल उठे तो भी हमें फिक्र नहीं हमें फिक्र यह है कि कपड़े हैं कि नंगा है खाना खाता कि नहीं खाता पानी छान के पीता कि नहीं पीता हमने ऐसी क्षुद्र धारणाएं बनाई शायद ये चालबाज लोगों ने ही हमें ये धारणाएं पकड़ा दी क्योंकि इन बातों को वो पूरा कर सकते इन बातों को पूरा करना बिल्कुल आसान है दीपक राग बजाना तो आसान नहीं कोई तानसेन बजाए किसी के सोए हुए प्राण को जगा देना तो आसान नहीं कोई बुद्ध जगा है किसी की निद्रा को तोड़ देना तो आसान नहीं कोई कबीर कोई नानक चाहिए किसी के प्राणों को आकाश की तरफ मोड़ देना कुछ आसान तो नहीं कोई जरथुस्त कोई जीसस चाहिए मगर भूखे मरना या नंगे खड़ा हो जाना या सिर मुंडा लेना या पालथी मार के बैठ जाना ये तो कोई भी मूढ़ कर सकता है इसमें तो किसी भी प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं हमें सन्यास की परिभाषा बदलनी होगी हमें इस थोथे सन्यास की परिभाषा को छोड़ना होगा इस थोथी परिभाषा के कारण थोथे लोग बड़े आदरत हो गए और जिनका सच में आदर होना चाहिए वो हमारी आंखों से ही अलग हो गए हम उन्हें देख ही नहीं पाते जहां कुछ सृजन होता हो जहां कुछ फूल खिलते हो जहां जीवन और जगत को कुछ और सुंदर बनाया जाता हो जहां कुछ और इंद्रधनुष आकाश से जमीन तक उतारे जाते हो वहां जहां नृत्य हो उत्सव हो वहां वहां सम्मान करो जहां आंतरिक समृद्धि प्रकट होती हो प्रसाद जहां हो जहां किसी की उपस्थिति में परमात्मा छाया हो जहां किसी की उपस्थिति में प्रेम की वर्षा होती हो जहां मस्तों की मधुशाला खुली हो वहां हमारा सम्मान होना चाहिए तो हम सन्यास को एक नई गरिमा और गौरव देने में सफल हो सकते अरे हाँ पलटू मार पीट के खाई सो बेटा राम के इस तरह जबरदस्ती कटेंगा सिर पर तुमने देखा कभी कभी आ जाते हैं दरवाजे पर सन्यासी बजाते चमीटा जोर से और घबराहट भी होती घर में तो क्योंकि दोनों उन्होंने ये भी कहानियां फैला नाराज हो जाए दुर्वासा की कहानियां तो तुमने सुनी ना गुस्सा आ जाए दे ही दो कुछ झंझट छुड़ाओ क्योंकि वो आगे पीछे चमीटा बजाता घूम रहा है आगे पीछे कदम रखता चमीटा बजाता है घबराहट पैदा कर देता घर में कि दो रोटी दे के इससे छुटकारा करो कहीं कोई अभिशाप देते है क्रुद्ध हो जाए तो जन्म जन्म बिगाड़ दे उसने बड़ा डर पैदा कर रखा है उस डर के कारण ही तुम उसे खिलाए जा रहे हो पिलाए जा रहे हो सम्मान दिए जा रहे हो भिख मंगे सन्यासी मालूम हो रहे हैं चांदनी भरी आंखें ही खो गई नहीं ये राम के बेटे नहीं ये कपूत है ये दाग है राम के बेटे चाहिए मगर राम का बेटा होना आसान तो नहीं अग्नि से गुजरना हो ओ गंध मधु पर झूमने वाले और रस किंजल पर ही गूंजने वाले तुम्हें मालूम इतना ही कि रवि की मुदित किरणों का परस पाकर सुबह में खिल उठी सहसा अचानक हो गई मैं पुष्पिता स्निग्धा पुलक सिरणमयी अली किशोरों को नहीं मालूम कितना क्लेश निसी भर झेलती हूँ सुबह खिलने के लिए किस तरह हर पंखड़ी पर रंग राग पराग रचकर और लेकर प्रस्फुटन की पीर देकर रस विवाह संपूर्ण अपनी एक कोरख में विकच होती कली से फूल बन जाती रूप रस के उपकरण चुन चुन जुटाती रात भर उन्निद्र जिस निशा में सभी निद्रालीन रहते उसी के हरियाम में मैं प्राणपण से जाग रूप यौवन का नया संसार रचती हूँ मैं कमलनी नहीं केवल कवि रचयता हूँ कहा है ज्ञात रो कि रचना रक्त से बनती कहा अनुमान है इसका किसी उन्मत्त भोरे को कली से फूल बनने में कमलनी किस तरह का क्लेश निष्भर भोगती रहती सस्ता नहीं है सन्यास सुगंध मुफ्त नहीं मिलती बहुत पीड़ाओं से गुजर के फूल में गंध आती मिट्टी से फूल तक की लंबी यात्रा है कीचड़ से कमल तक की लंबी यात्रा है और उसी यात्रा का नाम सन्यास है आज इतना है